नजरों की सब में नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में बच्चों को सुनते हैं तो आइए ओम शांति शिक्षा सदन इस स्कूल से सोनीपत से बच्चे जुड़े हुए हैं ओपन राउंड हम सुनेंगे ये बी ग्रुप वाले बच्चे हैं उसी स्कूल के अभी हम सुनेंगे इन सारे बच्चों को तो मेरी ओर से सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी ओर से भी तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले My name is Naveen. I read in 11th standard in Om Shanti Shiksha Sadan School in Nathpur, Sonipat. My father name is Sri Jai Singh. रूईना जे याद मेरी आई वे खुश रही अखा ना पर आई वे होया की हो गया सुपना दा चूरो चूर हो गया हो तेरे नाल रहू मेरी परछाई वे गया I read in eight class in Om Shanti Shiksha Saral senior सेकेंडरी स्कूल मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना तुम मेरे करीबों के मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से तेरी चाहतों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 My school name is Om Shanti Senior Secondary School. मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तो न जाए और तेरे बिना जीना वो दिन कभी न आए यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे radio Madhuban 90.4 FM Om Shanti Shiksha Sadan school से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बी ग्रुप वाले बच्चे ओपन राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए निखिल को सुनेंगे निखिल अपना गाना सुनाइए हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे खुद से भी हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो मेरी जिंदगी तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की अब तुम ही हो तेरे बिना ना जीऊ मैं तेरे बिना पे मैं ये उतारा तेरे लम्हों से दिल का निकाला हर सांस में मैं इकरार कर के भी ना करार क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आस की अब तुम ही हो गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरखी Myself Nikita, my school name is Om Shanti Senior Secondary School. इतने अकेले थे हम तुम तुम मुझ में मैं तुम में गुम मेरे कानों में आहिस्ता से उस रोज़ कहा था जो दोनों जहाँ में है एक जगह जो मुझे बड़ी महफूज लगे तेरी बाहें ये बाहें ये तेरी बस इतनी सी दुनिया है मेरी बाहों में घे साथ है मेरा हर दम देना तुम मेरे हो मेरे रहना वो hello friends myself Anjali from seven standard from Om Shanti senior secondary school दो चंचल लैन लुटेरे करते है छेड़े खानिया कई शरारत चल पुलिसी मासूम शैतानिया नैनों में किस्मत से ए हाँ नैनों में किस्मत से मुझको दिखा सितारा हरा हरा हरा मैं तो नैनों से हारा हरा हरा हरा मैं तो नैनों से हारा जब जब तुझको सोचूं के सारे यू एहसास मेरे हाँ दूर भी जब होते हो लगते मुझको पास मेरे मेरे लिए बनकर आई हो, हो मेरे लिए बनकर आई हो रब का कोई इशारा हरा हरा हरा हरा मैं दो तो नैनों से हारा हरा हरा हरा मैं दो तो नैनों से हारा thank you myself Pooja I study in twelfth arts I am from Om Shanti senior secondary school then I will start दो तोड़े दी मुंदरी लाते तीन तोड़े दा कंगना मुँह दिखाई दे दे फिर तो ले जा अपने अंगना ना समझे तू चीज पुरानी ना हो फिर तू चीज पुरानी मुँह मेरा सजा सो सो झट्टे के पल्लो लट्टे के रे मारो पल्लो लट्टे के पल्लो लट्टे के रे मारो पल्लो लट्टे के नाम पूजा है मैं आठवीं कक्षा में पढ़ती हूँ मेरे स्कूल का नाम ओम शांति शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई हॉस्टल में सुने खड़े मेरे को करना करे ठावेगा दस दिन भीतर सुने मछली चूड़े तारे पकावे मैं सरकारी में पढ़े हुए मेरा मछली मन से करे देर सारे टाइम उगा दूंगा जब गए इतने पल कर चमचमी पे मैं सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरों की My name is Preeti. I read in 8th class. My school name is Om Shanti Shiksha Sadan School. तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हैं तेरी गलियों से जो मैं हर रोज़ गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू वैसे ही कुछ मैं हिलती हूँ myself Preet. I'm from 9th standard Om Shanti Sikha Southern School. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम हो हो हाँ सच्ची सी है ये तारीफ़ें दिल से जो मैंने करी है तू जो मिला तो मिली है सनम दुनिया मेरी हमदम ओ आसमां मिला ज़मी खो गई यादें यादें पूरे हैं गम तेरे नाम से मेरी ज़िंदगी लिख दी मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम myself Ranja Paul I read in tenth standard in Om Shanti Shiksha Sadan senior सेकेंडरी स्कूल आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया ओ तेरे कांधे का जो तिल है ओ तेरी बिजली का जो बिल है ओ तेरे बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशियों का समंदर ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से मेरा हो गया आज से तेरी सारी गलियाँ मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशियों का समंदर ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से मेरा हो गया ओ मेरे पिन hello my name is Satika from ninth P class my school name is Om Shanti Shiksha Sadan सुन मेरे हम सफ़र क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांस चलते जिधर रहूँगी बस वहीं उम्र भर भर रहूँगी बस वहीं उम्र भर कितनी हंसी मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं बातों में तेरी जो खो जाते हैं रहू न होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी हाँ सुन मेरे हम सफ़र क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलते चिधर रहूँगी बस वहीं उम्र भर भर रहूँगी बस वही उम्र भर मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है दिल लगाने का तू ही तरीका है बारे भी तुझे से होता है रहूँ न होश में मैं कभी यादों में है तेरी जिंदगी हाँ सुन मेरे हम सफ़र क्या तुझे इतनी से भी खबर कि तेरी सांस चलती जिधर रहूँगी बस वहीं उम्र भर रहूंगी बस वही उम्र भर भर फ्रॉम seventh standard Shanti Shikshak senior secondary school today I am standing here to sing a song. My song title is To Vashti. Let's I sing. सांसें मेरी सांसें नहीं तेरे लिए बनी बातें मेरी बातें नहीं तेरे लिए बनी राहत सी दे दूँ तुझे दिल कहे आदत सी बना लूँ तुझे दिल कहे तेरे लिए ही तो धड़के दिल मेरा तुझ से ही तो खुद से हूँ मिला तू आशगी तू आशगी तू आशगी तू आशगी तेरे सपनों को मैं अपना बनाऊं हर पल तुझे जीना चाहूँ हो तो हर सुबह मेरी तुझसे ही मेरी मूंग में तू बसी तू अशकी तू अशकी तू अशकी तू अशकी गाएंगे My name is Shubham. from 7th standard from Om Shanti Shiksha Student School. तेरी जाकी के माँ गोला मारूं बाट गोफिया सन का एक निशाना ना चुकन दूं मैं चलिया बालकपन का तेरी जाकी के माँ गोला मारूं बाट गोफिया सन का एक निशाना ना चुकने दूँ मैं चलिया बालक बन का मैं खास सपेरा तू नागिन काली मैं खास सपेरा तू नागिन काली जहरीली लिखला बन का एक निशाना ना चुकने दूँ मैं चिड़िया बालक पण का काली जुटी काला चंपर काला त्रिठोडी के नीचे काला शर्मा क्या के मैं बंदे ने जो लावे पीछे धरती नीचे ते या फिर तू आसमान के पीछे थे जितने भी तू आई है छोरी नहीं दवाई है कुछ मुशमरा करके जान मासूम से माँ खुले माँ घुस बैठे मर जाने के दिल्ली तेरे काली माँ friends myself Pandey from ninth नवर in Om Shanti Chetan senior secondary school दिल लगाने की वजह तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए ना जाए ना जाए ना मोरे पिया जिया जाए ना जाए ना जाए ना मोरे पिया गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरखी I am Shahrukh from 12th standard art section my school name is Jom Shanti senior secondary school मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा आना यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना थैंक यू गाएंगे सब hello friends I am Sonam and I read in ninth class कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों यारियों यारियों में हंदा ना फासले ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ सुरों की Hello, I am Saurabh from Om Shanti Shiksha Sadan School and I study in 9th class and I I s- going to singing a song "A Watan" for my country. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में आज रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में आज रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू am Sonia from 10th standard for in Om Shanti Shiksha Sadan Senior Secondary School. मैं सीधा सादा बंदा ओ भी हुसना दिरानी एज मेरी भी सिगट मत ओ भी निंद आनी मैं सी सीधा सादा बंदा ओ भी हुसना दिरानी एज मेरी भी सिगट मत ओ भी निंद आनी पहले हल्ले दिल दिया रानी हो गई फिर शुरू मेरे प्यार दी कहानी हो गई फिर शुरू मेरे प्यार दी कहानी हो गई गाएंगे सब My name is Suraj from 10th standard from Om Shanti Shiksha Sadan School. दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना ना सीखा कभी जीना मेरे हमदम तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों के एक से बढ़कर एक आवाज़ आप तक पहुंच रही है और मैं चाहूँगा कि जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगती हो उस आवाज़ के लिए ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना और जिस बच्चे की आवाज़ अच्छी लगती हो उस बच्चे का नाम लिख के सेंड कीजिए तो आइए आप आगे बढ़ते हैं स्वीन हमारे साथ हैं स्वीन को सुनेंगे अभी सुन मेरे हम सफ़र क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर रहूंगी बस वही उम्र भर है मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है दिल लगाने का तू ही तरीका है एतबार भी तुझी से होता है आओ ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है है नहीं था पता कि तुझे मान लूँगी खुदा कि तेरी गलियों में इस कदर आऊँगी हर पहर हर पहर हाय सुन मेरे हम सफ़र क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगी बस वही उम्र भर भाई गाएंगे सब hello friends I am Tarun from class ninth B my school name is Om Shanti Shiksha Sadan senior सेकेंडरी स्कूल कच्ची डोरियो डोरियो डोरियो से मैनू तू बांध ले पक्की यारियो यारियो यारियो से होंदे नाल फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਐ ਮੇਰੀ ਵਫਾ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈਆ ਤੇਰੇ ਲਈਆ ਯਾਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਦੇ ਦੂਰੀਆਂ 90.4 FM गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरों की hello myself Tamanna Sharma I read in class nine noble in Om Shanti Shiksha Sadan school लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के बेस में हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी उम्मीद जो न छूटे हर बात है बनी रातों के सुर से निकले सुबह की रंगीनी आले लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के बेस में मैं आसमां को खिड़कियों से घर में लाई हूँ सारे के सारे तारे चुन चुन के लाई हूँ सपनों में मन के रंग यूं भर के लाई हूँ हर दर्द भूल जाओ यूं ही खेल खेल में मिलती है जहाँ खुशी परियों के भेस में देना तो मन की शक्ति मालिक मेरे मुझे मेरी कथा यथा का तुझे सब है पता आ लेके चलूँ तुझको एक ऐसे देश में मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के बेस में छोड़े हैं सारे सपने तेरी देख रेख में छोड़े हैं सारे सपने तेरी देख रेख में मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में My name is Varsha from 8th standard. I read in Om Shanti 6000 Senior Secondary School. लेके चलूँ तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के फेस में हो चांद चाहे आदा हो फिर भी रोशनी हो चांद चाहे आदा हो फिर भी रोशनी उम्मीद जो न छूटे हर बात है गमी उम्मीद जो न छूटे हर बात है मने अले कितने तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के फेस में अले चलूँ तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के फेस में तो चांद चढ़े और फिर भी रोशनी हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के फेस में आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में हो चांद चाहे आधा हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी उम्मीद जो न छूटे हर बात है बनी आने के खाने किचन के चलो तुझको एक ऐसे देश में एक ऐसे देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के फेस में परियों के फेस में परियों के फेस में परियों के फेस में आने के चलो आने के चलो तुझको एक ऐसे देश में एक ऐसे देश में देश में मिलती है जहाँ खुशियाँ बनी वो धन्यवाद My name is Mikul. I read in Om Shanti Senior Secondary School. I am in 8th standard. Oh. ਕਹਿੰਦੀ ਫੂਕ ਦੂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗੀ ਯਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੂਕ ਦੂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗੀ ਯਾਰੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਯਾਰੀਆਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਲੀਸਾ ਹੋ ਯਾਰ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਵੇਖਣੀ ਦਰ ਛੱਡ ਸਾਡਾ ਯਾਰੀਆਂ ਮੇਵਾੜੀ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਾਰ ਗੋਰੀਏ सब My name is Ishu. I am 7th standard. I read in Home Om Santasiya Secondary School. तू तो सफ़र मेरा तू ही मेरी मंद तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तू खुदा मेरा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी पे है तू लाजमी जुनून है मेरा बनू मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल तू सफ़र मेरा तू ही मेरी मंज तेरे बिना गुजारा myself Yogita from eighth Bharat Ratna from Om Shanti Shiksha Sadan senior सेकेंडरी स्कूल वो करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा हर किसी भी गली में जाऊँ मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हूँ सुना सा एक आसमां पहचान तू वो करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझ जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा अभी हमने सुना ओपन राउंड बी ग्रुप का ओम शांति शिक्षा सदन ऐसे स्कूल के बच्चे हमारे बीच में ओपन राउंड का ऑडिशन दे चुके हैं और हमने सभी बच्चों को सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप ज़रूर मैसेज करें बच्चों की उमंग को बढ़ाएं मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों को लेकिन जाते जाते हमारे लाइब्रेरियन जो है हमारे साथ है उनके भी दिल में अरमान है कि मैं भी बच्चों के साथ गाना गाऊं तो चलिए इन्हें कंपटीशन में तो नहीं ले सकते बच्चों के बीच में तो मैं चाहूँगा भरतवाज जी को थोड़ा सा सुनते हैं जाते जाते चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही ओपन राउंड में अगली बार हम लोग सेकेंड राउंड को सुनेंगे जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको सुनेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा सुनते रहो मुस्कराते रहो आजा नंद के दुलारे ओ वरो भय अकेली मीरा आजा नंद के दुलारे ओ वारो है अकेली मीरा रोम रोम मैं रम्या यश नहीं रोम ते न्यारा हो असुरों के तन मान घटाए भक्तों का बण प्यारा हो असुरों के तन मान घटाए भक्तों का बण प्यारा हो वटो वह अकेली मीरा आजा नंद के दुलारे हो वारो वह अकेली मीरा आदम दे के चोले गला दूत रहे संयम के ओ सतरंग सेज बिछा राखी सही लगे गलीचे गम के ओ सतरंग सेज बिछा राखी सही लगे गलीचे गम के ओ पशो वै अकेली मीरा आजा आनंद के दुलारे हो वह वै अकेली मीरा बालक सी ने ब्याह करवाया तेरे संग में ब्याई हो पिहर छोड़ सास रह आगी लागी कुल के श्याई हो यहर छोड़ सास लगी लागी के श्याई हो वो है अकेली मीरा आजा आनंद के दुलारे हो रंग सरो सब मिल